लेकिन जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में से होगा